सभी मेरे साथ मिलके तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मन में परम पिता परमात्मा का रक्षक भाव रखेंगे ओ आदरणीय स्वामी जी आदरणीय आचार्य सोमदेव जी इस सभा के वैदिक महासभा के पदाधिकारीगण और इस शहर के प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं और बहनों धर्म के बारे में हमारी दृष्टि जब जाती है तो सामान्यतः हम सोचते हैं कुछ विधि विधान बताए गए हैं ऐसा कीजिए और ऐसा मत कीजिए और धर्म का ज्ञान हमें कहां से होता है तो हमारी दृष्टि ये जाती है कि कुछ शास्त्र हैं वो धर्म के बारे में बताते हैं गुरुजन धर्म के बारे में बताते हैं अर्थात धर्म ऐसी चीज है जो औरों के द्वारा बताई जाती है हमारे लिए और हमें उनके बताए अनुसार चलना होता है धर्म का कुछ ऐसा स्वरूप हमारे मन में रहता है इसे यदि दूसरी दृष्टि से देखें कि जिन्होंने हमारे लिए ये बातें बताई हैं उन्होंने क्यों बताई हैं हर मनुष्य अपने हित की चिंता करता है और करनी भी चाहिए उसको और इस जीवन में हमारा हित किसमें है ये एक विचार की बात है हमारे प्राचीन काल से धर्म का स्वरूप मात्र सुबह शाम के पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा है धर्म को हमारे जीवन का प्रबंधन कहना चाहिए धर्म क्या है हमारे जीवन का प्रबंधन है मैनेजमेंट है और कुछ नहीं आज मैनेजमेंट की बहुत चर्चा है बीबीए एमबीए और बड़े बड़े संस्थान हैं आईआईएम आदि और प्रबंधन का बड़ा महत्व तो भी है जो भी अधिकारी हैं किसी भी क्षेत्र में है आज बिना प्रबंधन के हम उसको सोच नहीं सकते प्रगति नहीं हो सकती समय धन श्रम व्यर्थ चला जाता है हानियां हो जाती हैं इसलिए प्रबंधन आवश्यक है लेकिन आज जितने भी प्रबंधन संस्थान हैं वो किस चीज के प्रबंधन की बात करते हैं एमबीए कहेंगे तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस भी कौन सा बिजनेस धन से संबंधित बिजनेस वैसे हमारा परस्पर का व्यवहार भी एक बिजनेस कहा जा सकता है ये भी एक बिजनेस होता है लेकिन आजकल के जितने भी प्रबंधन संस्थान हैं वो पैसे पर केंद्रित हैं क्यों क्योंकि उन्होंने अपने को पैसे तक सीमित रखा है जिसको आचार्य सोमदेव जी देह पोषण के रूप में कह रहे थे हमारा घर परिवार फैक्ट्री उत्पादन चीज का ठीक बनना ठीक जगह पहुंचना हमारे लिए ठीक ठीक उसका उपयोग हो सके सरलता से हो सके सस्ती बने इत्यादि जितनी भी विधाएं हैं वहां पर वो किस लिए हैं शरीर को केंद्रित करके और अब चूंकि और ज्यादा योग का ये विस्तार हो रहा है तो वो लोग मानव संसाधनों के प्रबंधन की भी बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की एचआर एक संस्था उसमें बना दी है कि हमारा आपस का संबंध कैसा हो तो एक अच्छी बात है लेकिन इसके पीछे भी सोच क्या था उनका एक फैक्ट्री में अधिकारी और कर्मचारी के बीच सामंजस्य रहे प्रेमपूर्ण संबंध रहे इस पे सोचने को वो क्यों मजबूर हुए क्यों मानवीय संपर्क को संबंध को वो व्यवस्थित करना चाहते हैं और उसको सिखाने लगे प्रयोजन वहां भी वही धन था क्योंकि मानव मानव का परस्पर संपर्क यदि अनुचित होता है तनाव होता है तो काम ढंग से नहीं होगा कहा सुनी हो गई तो मन कहीं और होगा और काम बिगड़ेगा तनाव होगा तो बीमार पड़ेगा तो फैक्ट्री में देरी से आएगा छुट्टियां अधिक लेगा मेडिकल खर्च अधिक होंगे औषधियों के खर्च अधिक होंगे कुछ और समझ में आने लगा तो फैक्ट्रियों में ध्यान भी सिखाने लगा और वहां कंप्यूटर पर बैठे बैठे गर्दन और कमर में दर्द होने लगे कुर्सियों पे तो सुबह आसन आदि भी करवाने लगे लेकिन ये सब क्यों किस लिए शरीर तक सीमित रहते हुए ये सारा प्रबंधन है मुख्य उद्देश्य शरीर है हाँ कुछ बातें आती हैं कि भाई हमारा पारस्परिक संपर्क अच्छा रहना चाहिए मन की भी कुछ बात आती है धर्म हमारा जीवन का मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट जो केवल शरीर तक नहीं सोचता है आज का मैनेजमेंट क्या किसी को ये बताता है कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी है मेरी जानकारी में नहीं कि ये जो जन्म लिया है हमने कुछ वर्ष पूर्व और मृत्यु तक इस काल का मैनेजमेंट क्या हो मेरी जानकारी में तो नहीं कोई ऐसी संस्था हो आप बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक आपका ये मैनेजमेंट है प्राचीन ऋषियों ने जो धर्म बताया वो ही आदेश को पालन करने के लिए नहीं बताया उन्होंने एक प्रबंधन दिया है हमें आपको सुबह जल्दी उठना है तो ये कोई रीति रिवाज या मात्र पुण्य की बात नहीं है धर्म को हम प्राय पाप और पुण्य तक यानी भाग्य और इस तक सीमित रख लेते हैं कितने विधि विधान है हमारे जो पाप पुण्य से संबंधित नहीं है सुबह उठना है सुबह उठ करके जल पीना है शौच स्नान से निवृत्त होना है स्नान करना है इसको धर्म के रूप में भी कह दिया जाता है कि भाई बिना स्नान किए खाना नहीं खाना है अब इसको एक धर्म के साथ में जोड़ा लेकिन इसका पाप पुण्य से तो कोई संबंध नहीं है इसका हमारे शरीर और स्वास्थ्य के साथ में संबंध है प्रातःकाल यज्ञ करना है तो उसका वैसे पुण्य से संबंध अलग बात है लेकिन हमारा वातावरण शुद्ध हो इसके साथ जोड़ दिया ना अर्थात हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो धर्म का स्वरूप दिया वो प्रबंधन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था और धर्म को मात्र पाप पुण्य से नहीं जोड़ के देखना चाहिए धर्म शब्द ही यही कहता है जिसके द्वारा धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना धारण नहीं चाहता है शरीर का धारण हम चाहते हैं पोषण चाहते हैं अपने मकान का धारण चाहते हैं ये अधिक से अधिक देर तक रहे जंग ना लगे गिरे नहीं हमारे फैक्ट्री का धारण चाहते हैं राष्ट्र का धारण चाहते हैं हमारे जल नदियों का स्रोतों का धारण हम चाहते हैं वो शुद्ध रहे हमारे जलाशय शुद्ध रहे प्रदूषित ना हो अब आज जो विज्ञान इन सब के लिए कर रहा है इनके शोधन के लिए यद्यपि विज्ञान के कारण ही बहुत कुछ विकृति भी आई है लेकिन शोधन की बात चिकित्सक तो कहेगा ना हाथ धोकर के खाना खाइए जो आप जल पी रहे हैं वो शुद्ध पिए ये तो कहेगा ना चिकित्सक इससे हमारा धारण होता है अब कोई कहे कि हम तो संस्कृत भी नहीं जानते हैं और कैसे धर्म को पूरा पूरा जान पाएंगे वो ऋषि मुनि लोग जानते थे हम कहां कहां जाएंगे यदि धर्म का मूल तत्व समझ लिया कि धर्म हमारे जीवन का प्रबंधन है मैनेजमेंट है और वो हमारे को धारण करता है अब इस बात तक अगर हम सीमित हो जाएं कि किस तरह मेरे जीवन का प्रबंधन ठीक है हमारा अन्य मनुष्यों के साथ और किस तरह से इनका धारण होता है परस्पर संबंधों का और अन्य चीजों का तो कहीं भी पूछने जाने की जरूरत नहीं है हम निर्णय कर सकते हैं इससे हमारा धारण होता है या नहीं होता है इससे कुछ मैनेजमेंट होता है नहीं होता है प्रबंधन होता है नहीं होता है। और बहुत कुछ आधुनिक विज्ञान के द्वारा यही किया जा रहा है लेकिन इसमें समस्या क्या है विज्ञान के द्वारा या <clears throat> भौतिकवाद के द्वारा जो दृष्टि दी गई वो शरीर और कुछ मन तक वहां तक सीमित रखी गई अब जब दो बातों में विरोध आएगा कि किसको धारण करें तो आज व्यक्ति इतना आत्म बन गया है या परिस्थितियां ऐसी हैं और या बना दिया गया है कि वो धारण की बात भी सोचेगा पोषण की बात भी सोचेगा तो वो अपने तक सीमित रखेगा और अपने भी अपने शरीर तक सीमित रखेगा उदाहरण के लिए आज कोई वकील है उनको यदि कहा जाए कि ये अपराधी है आपको पता है कि इसने अपराध किया है फिर आप इसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं आप इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं बोले वकालत मेरा धंधा है मेरी आजीविका है उनको कहें कि भाई ये तो कोई आजीविका नहीं हुई जिससे दूसरों की भी हानि होती हो गलत व्यक्ति की आप रक्षा करो हाँ चोर यदि चोरी करे और वो कहे कि ये तो मेरा धंधा है कुछ सासी कंजर प्रजातियां होती हैं जो शराबी बनाती हैं या तो उनका चोरी चपाटी का ही धंधा होता है पुछते नहीं धंधा होता है उनका उसी तरह ही जीते हैं वो कई पीढ़ियों से वो क्या मेरा धंधा है क्या हमें स्वीकार होता है वो तो ये फिर भारतीय कानून की बात है कि कानून के सामने जब तक निर्णय ना आ जाए न्यायाधीश का तब तक सब व्यक्ति समान है बड़े ऊंचे आदर्श की बात है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक सब समान है और भारतीय संविधान ये हमें अधिकार देता है कि सब समान है तो हम उसकी रक्षा कर सकते हैं अभी वो अपराधी नहीं है ठीक है एक स्तर पर राष्ट्र के पोषण के लिए न्यायालय है और संविधान है लेकिन ये संविधान किसके लिए है क्या अपराधी की रक्षा के लिए है न्यायाधीश की दृष्टि में जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि अपराधी है नहीं होगा दंड भी नहीं दिया जाएगा लेकिन आप तो न्यायाधीश आप तो वकील हैं आपको पता है कि ये हत्या करके आया ये चोरी करके आया इसने गलती की है अब वो कहता है कि नहीं इससे मेरी जीविका चलती है यानी अपने पोषण की बात कर रहा है वो पर अपने तक केंद्रित है और अपने शरीर तक केंद्रित है यदि वो ऐसे अपराधियों का केस ही ना लड़े सब वकील तो देखिए कैसा प्रबंधन होगा छोटी सी बात है और मनुस्मृति में इसका हमारे को धर्मशास्त्र है उसमें यह कह दिया है कि जो व्यक्ति अपराधी की रक्षा के लिए प्रयास करेगा अपराध सिद्ध होने पर उसको भी दंड मिलेगा आज किसी वकील को मिलता है दंड और जो झूठे गवाह होंगे उनको भी दंड मिलेगा आज मिलता है कहीं मिलता हो तो थोड़ा बहुत नहीं तो नहीं ये एक प्रबंधन की छोटी सी बात है उसमें भी पोषण ही देखा है उन्होंने और आज का व्यक्ति भी पोषण ही देख रहा है लेकिन क्या इससे पोषण होता है हमारा जब आत्म केंद्रित होगा तो उसे पोषण लगेगा शरीर केंद्रित होगा तो आज हमारे न्यायालयों का कितना समय मात्र इस बात में जाता है कि ये अपराधी है या नहीं है वो ये प्रमाण देगा वो वो प्रमाण देगा उसकी गवाही होगी ये ट्रायल होगा वो होगा वो लिखित में आएगा वो आ, हाथ के फिंगरप्रिंट्स आएंगे और ये आएंगे और बाल आएगा और उसकी एनडीए का टेस्ट डीएनए आरएनए का टेस्ट होगा न जाने कितना श्रम और समय केवल इस बात के लिए लगता है कि यह अपराधी है और इतने वकील हैं और इतनी मैनेजमेंट है सारा इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं लाख लाख दो दो लाख और पता नहीं करोड़ करोड़ रुपए एक एक केस के लिए लिए जाते हैं और इसे हम प्रबंधन मानते हैं अब ऋषियों की दृष्टि क्या है अगर वकील और वकील को पता है एक इतना सा प्रबंधन कर दिया कि वकील इस कर्तव्य को मान के चले कि अपराधी है तो मैं उसको नहीं बचाऊंगा हाँ इतना कर सकता है कि उसका जितना अपराध है उससे ज्यादा दंड ना मिल जाए उसको इसके लिए प्रयास कर सकता है उसमें दोष नहीं है लेकिन अपराधी है और अपराधी से स्वीकार करवाए वो खुद कह दे कि हाँ मैंने अपराध किया है बताइए ये प्रबंधन है या नहीं है हमें लगेगा कि ये मनुष्य का वकील का धर्म है कि वो दुष्ट व्यक्ति की रक्षा ना करे लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा प्रबंधन छुपा हुआ है ऋषियों ने जो भी बात लिखी है भले ही कठिन कितनी लगती हो लेकिन प्रबंधन है वो सारा व्यवस्था है कम से कम समय में कम खर्च में और उचित व्यवस्था हो अब ये तो मैंने शरीर और भौतिक दृष्टि से बात की न्यायालयों के समय की दृष्टि से बात की और ये हमारे लिए समस्या बना हुआ है आज न्यायालयों में इतने केस बचे हुए हैं और नए नए न्यायाधीश लाने पड़ते हैं विशिष्ट अदालतें की जाती हैं और न जाने क्या क्या और अभी भी समस्या का समाधान नहीं निकला है जितने अपने को बुद्धिमान समझते हो जितने बड़े बड़े प्रबंधन संस्थान हो आज तक इसका हल नहीं निकाल पाए और ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक धर्म की इस छोटी सी बात को नहीं स्वीकार किया जाएगा जो कि अपने आप में ही है कि गलत व्यक्ति का केस उसको नहीं लड़ना है सिद्ध है फिर देखिए क्या हालत बनती है कितना अच्छा प्रबंधन बिना पैसे के और कितनी सरलता से होता है ये अंतर पड़ता है जो केवल शरीर को ध्यान में रख करके प्रबंधन करते हैं और जो दूर दृष्टि से करते हैं ऋषियों के प्रबंधन में इसलिए महर्षि दयानंद बार बार था वेद और वेदोक्त ऋषिकृत ग्रंथों के पीछे पड़े और उसी के लिए ब्रह्मचारी लोग पढ़ते हैं उस परंपरा को जीवित रखते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है प्रबंधन ये सोचते हैं कि धर्म और ये तो सब अप्रबंधन है और हम बड़े प्रबंधन में हैं लेकिन समस्याएं तो बनी हुई हैं निवारण नहीं हो रहा है इसको यदि और सूक्ष्मता दें ये तो बहुत छोटी सी बात मैंने रखी जो वकील उसकी रक्षा कर रहा है वो पाप कर रहा है क्या वो अपना पोषण कर रहा है क्या पोषण हो गया उसका एक सीए फर्जी काम करवाने के लिए और टैक्स बचाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है वो करोड़ रुपए बचा रहा है और वो मालिक उसको लाखों रुपए दे रहा है और प्रसन्न है कि एक दूसरे का पोषण कर रहे हैं क्या पोषण कर रहे हैं धन मिल गया सुख सुविधाएं मिल गई लेकिन क्या हम केवल शरीर हैं कि हमें केवल इसी का प्रबंधन सोच करना है यदि शरीर और आत्मा में कहीं पोषण में भेद आ जाए कि शरीर का पोषण करने से आत्मा का पोषण ना हो रहा और आत्मा की हानि हो रही हो तब क्या करेंगे लेकिन आत्मा का सोच नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे यदि इस मकान का पेंट जो कि एक भौतिक रूप है उससे मेरे को एलर्जी होती है उसकी गंध से मेरे को एलर्जी होती है रसायन है तरह तरह के क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा अपने कमरे में लगवाना चाहेगा वो ये सोच करके कि नहीं ये सुंदर दिखना चाहिए कितना भी सुंदर हो भाई एलर्जी आप ये मकान है किसके लिए शरीर के लिए हमारे लिए है यदि उससे हमको एलर्जी हो रही है छींक आ रही है चमड़ी में खुजली हो रही है तो कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तो जब दो चीजों के पोषण में विरोध खड़ा हो तब क्या करना चाहिए धर्म ये बताता है जब शरीर का पोषण तो हो रहा हो लेकिन उसे आत्मा यदि विकृत हो रही है तब क्या करना चाहिए तो उसका प्रबंधन यही है और ये बहुत बड़ा प्रबंधन है कि आत्मा की सोच के आत्म पोषक की सोच करके और हम अपने कार्यों को करें नहीं तो जैसे स्थूल उदाहरण में रंग हम वो ही लगवाएंगे जो सुंदर दिख रहा है भले ही उससे एलर्जी और चमड़ी हो चमड़ी में खुजली हो हम उसके लिए चिकित्सालय बना लेंगे हम उसके दवाई के लिए हजार दो हजार दस हजार खर्च कर देंगे चिकित्सक के पास आने जाने के लिए हम समय लगा देंगे लेकिन मकान तो सुंदर ही दिखना चाहिए वो ही रंग लगना चाहिए एक ये मैनेजमेंट है कि एलर्जी हुई और उसके लिए हमने फिर हॉस्पिटल बनवा दी और उसके लिए दवाइयां खर्च कर दी फार्मेसियां बना दी कहने वाले इसको मैनेजमेंट कह सकते हैं एक दृष्टि से मैनेजमेंट है लेकिन ये मैनेजमेंट से पहले ये भी तो देखिए कि समस्या आई कहां से थी समस्याएं बनती रहेंगी और हम मैनेजमेंट करते रहेंगे ये तो कोई अच्छा उप मैनेजमेंट नहीं है ये समस्या आई क्यों थी उस समस्या का ही निदान कर देना उस पेंट को ही ना लगाना तो समस्या ही समाप्त है और उसको बाकी मैनेजमेंट करने की हमारे को आवश्यकता ही नहीं है उस इन सारे मैनेजमेंट को कर करके हम खुश हो रहे हैं कि बहुत बड़े बुद्धिमान हो गए हैं हम ऋषियों की दृष्टि एक दूसरी तरह के मैनेजमेंट की है और धर्म हमें यही बताता है कि जो द्वेष आ गया है ये क्रोध आ गया है ये आया क्यों है उसको ठीक करो फिर मेंटल हॉस्पिटल बनाने का मैनेजमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है तो धर्म का तत्व केवल यह है कि उसने हमें मैनेजमेंट सिखाया जीवन कैसे जिया जाए और न मात्र ये जीवन हमारा अगला जीवन भी कैसा हो हमारी आत्मा की जो अंतिम इच्छा है वो कैसे पूरी हो वो सारा इसमें समावेशित है और धर्म वो है जिससे हमारा धारण होता है जिस जिस चीज से हमें ये लग रहा है कि हानि हो रही है उसको छोड़ दीजिए और जो वकील वाली बात है उस पर एक पक्ष और मैं बोल के समाप्त करता हूं कि जिस अपराधी को हम बचा रहे हैं बाह्य रूप से दिख रहा है कि हम उसको बचा रहे हैं और वो भी समझ रहा है कि उसको बचा रहे हैं लेकिन ऋषि तो ये कहते हैं कि उसको आप बचा नहीं रहे हो उसको और पाप के गर्त में डाल रहे हो जो सीए पैसे बचाने के लिए और उल्टे सीधे धंधे करके और पैसे बचा रहा है वो जो मालिक है वो आगे क्या करेगा वो वैसा ही करता रहेगा एक चोर को बचाया तो वो जाके क्या करेगा फिर चोरी ही करेगा उसको पता है कि मैं एक करोड़ की चोरी करूंगा दस लाख वकील को फेंक के मारूंगा वो मेरे को बचा देगा नब्बे लाख तो मेरे को मिल जाएंगे ये ही तो इस तरह का प्रबंधन विभिन्न संप्रदायों ने किया कि आप पाप कुछ भी कीजिए जाकर के डुबकी लगाइए और समाप्त ये भी एक प्रबंधन है उनका सोच है उनका और दुनिया चल रही है लेकिन क्या उससे कुछ लाभ हो रहा है क्या वो वास्तविक प्रबंधन है तो महर्षि दयानंद ने धर्म का मूल तत्व हमें बताया जिन वेदों को हमारी प्राचीन बातों को ऋषियों को हम छोड़ चुके थे उसको दिखाया कि देखो ये है इसका स्वरूप और उसका सच्चा स्वरूप ये है हम वेद और ग्रंथों को मानते तो थे लेकिन उसको विकृत रूप में मानने लगे थे धर्म को यदि हम प्रबंधन और अपने हित के लिए देखने लगेंगे जिसमें सबका हित है और दूसरों का हित होने में हमारा हित है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति एक नियम दिया महर्षि दयानंद ने ये पोषण हमारा कब होता है जब हम केवल अपने पोषण के लिए लगते हैं तो हमारा उतना अच्छा पोषण कभी नहीं हो सकता जब दूसरे का पोषण करेंगे दूसरे को के हित को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे तो हमारा अधिक पोषण होगा ये सारे के सारे सूत्र हमारे ऋषियों के द्वारा दिए गए हैं ईश्वर ने वेद के अंदर दिए हैं महर्षि दयानंद ने उसको हमें बताया प्रभु करे हम धर्म के तत्व को जो कि बहुत सरल है उसके हित देखने लगेंगे लाभ देखने लगेंगे तो उसको अपनाने में कुछ भी कठिनाई नहीं है खाना खाने से पहले हाथ धोना हमें कठिन नहीं लगेगा यदि हमें उसके लाभ पता है नहीं तो बच्चे को तो कठिन लगेगा वो नानू करेगा नहीं मैं नहीं धोऊंगा हाथ भी धोऊं फिर पहुंचना भी पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा चल के ये धर्म तभी तक कष्ट प्रतीत होता है जब तक हमें इसका रहस्य नहीं पता है और हमें इसके लाभ नहीं पता है नहीं तो ये तो हमारी आवश्यकता है हमारी अनिवार्यता है हम धर्म को छोड़ ही नहीं सकते और मनुष्य की आत्मा यदि सत्य को जान लेती है तो धर्म को कभी छोड़ नहीं सकती मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं समय हो गया है दो शब्दों में आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं ये सभा आयोजित की गई सुरेश भाई और वैदिक महासभा के अन्य व्यक्तियों द्वारा और आप लोगों से परिचय का अवसर मिला हम लोगों के लिए यहाँ प्रतराश और भोजन आदि की भी व्यवस्था की गई उस सबके लिए सभी सहयोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों ने भी ध्यान पूर्वक इसको सुना उसके लिए भी सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ ओम शम तो किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न हाँ मेरी तरफ से तो कोई बाधा नहीं है घड़ी के हिसाब से आप जैसा चाहें और अनुकूलता हो तो पूछ सकते हैं तो एकदम क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम लकी वो भी है जाना है फिर भी अगर किसी को केवल पांच लेंगे आचार्य जी का अगर कोई पूछना हो तो एकदम पूछेंगे जी जी पूछिए मैं जो वशिष्ठ रामायण मानती हूँ पढ़ती हूँ जी तो उसमें क्या कि वो आत्मा के लिए आता है तो अब तक मैं बहुत ही जैसे सत्संग में तो जाती हूँ हाँ, कैनेडा में जाती हूँ यूरोप में जाती हूँ जी अपना जी तो एक ही बात ही मेरे वो अभी तक नहीं भी मान सकती कि ये सब जानते हैं कि आत्मा है वो देह नहीं है तो वो भी क्यों वो हमारे भी अभी नहीं समझ में आते कि क्यों नहीं अब अभी मानते मानते नहीं है ये सब झूठा है क्यों नहीं अभी भी नहीं मान सकते क्योंकि हमें समझ में नहीं आता इसलिए नहीं मानते समझ में क्यों नहीं आता कि हम सुनते हैं और सुन सुन करके ऊपर के स्तर पर रखते हैं जो हमारा मस्तिष्क का ऊपर का भाग है कॉन्शियस माइंड है वहां तक रहते हैं साइंस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात करता है लेकिन वहां और उससे हम संचालित चलते रहते हैं जीवन भर हमने इसी को शरीर माना है जन्म जन्मांतर से इंद्रियों से संपर्क विषयों का सेवन और सारा सुख दुख इसी पर केंद्रित है और ये सारी बातें हमारे अंदर घुसी हुई हैं अब हमने सुन तो लिया है ऊपर से लेकिन अंदर से प्रवृत्ति वही होती है और उसका उपाय क्या है वो पतंजलि योग शास्त्र का है कि कैसे ये बात सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डाल दी जाए जो अंदर वाली है वो साफ कर दी जाए उसके लिए ध्यान में बैठना पड़ेगा उसकी अपनी विधि है जब हम इस बात को एक एकाग्र होकर के शांत होकर के बैठते हैं स्थिर होकर के उचित समय में और अंदर तक डाल देते हैं तो ये हमारे को समझ में आएगी नहीं तो ये ऊपर ऊपर कुछ और चलता रहेगा और अंदर जो दबा पड़ा है वो चलता रहेगा ये द्वंद्व हटने वाला नहीं है इसके लिए एकांत में बैठना पड़ेगा इसकी अलग प्रक्रिया है इसका मैनेजमेंट अलग है ये अंदर का मैनेजमेंट है और ये योग शास्त्र है अच्छा ये प्रश्न है क्या कसाई का अपना व्यवसाय करने में कत्ल करनी पड़ती है तो उससे पाप लगेगा संक्षेप से उत्तर दूं तो लगेगा धारण किससे होता है ये हमें ध्यान रखना है मैनेजमेंट किससे होता है वो ध्यान रखना है उससे हमारा हित है या नहीं है ये ध्यान रखना होगा गलत कार्य में कोई सहयोग करे हो सकता है ये कल्पना करें उस प्रश्न में कि वो खुद तो मांस नहीं खाता है लेकिन मारता है वो दूसरों को उपलब्ध करा रहा है एक क्या मैं गुटका तो नहीं खाता हूं लेकिन गुटके की फैक्ट्री में काम करता हूं बस कितने दुकान वाले होते हैं कई परिचितों के जाते हैं तो बोले धार्मिक भी है उनका ये लटक क्यों रहे ये लंबे लंबे जो पौच होते हैं ना गुटके के तंबाकू के ये क्यों लटक रहे हैं बीड़ी सिगरेट भी रखे हैं अंडा भी रख देते हैं बोले जी लोग इसके बहाने आते हैं और तो सारा सामान लेते हैं अगर ये नहीं होता है तो बगल वाली के पास चले जाते हैं बगल वाली दुकान पे सामान लेते हैं जो भी गलत कार्य नशे पते गलत चीजों में किसी भी तरह सहयोग करेगा वो हानि उठाता है उसका अपना अहित कर रहा है क्योंकि दूसरों का भी अहित हो रहा है उससे ये एक मैनेजमेंट है ऋषियों का कि जिस चीज से दूसरों को हानि हो रही हो वो आपकी आजीविका का कारण नहीं होना चाहिए दूसरों की हानि करके और आप अपनी आजीविका चला रहे हैं ये धर्म पूर्वक अर्जन नहीं है वो नहीं होना चाहिए तो जिस जिस से दूसरों को हानि होती हो ऐसा कोई भी कार्य वो सब पाप का कारण बनता है यही शुद्ध कमाई है यही तपस्या है तो पाप लगेगा उसको एक प्रश्न आया कर्ता के बिना कार्य नहीं होता ऐसा सत्या प्रकाश में लिखा है लेकिन जब ये सवाल आता है कि आत्मा परमात्मा प्रकृति किसने बनाया तो लिखा है कि कारण का कारण नहीं होता तो ये समझ में नहीं आता देखिए पहला वचन तो आपने ये बोला कि किसी भी कोई भी कार्य बिना कर्ता के नहीं होता ये ठीक बात है कार्य का मतलब है एक तो क्रिया वाला कार्य होता है चलना फिरना आदि एक कार्य का मतलब होता है बनी हुई चीज ये माइक भी एक कार्य है ये भी कार्य है जो महर्षि का वहां पर अर्थ है वो है कि जो भी बनी हुई चीज होती है घड़ा कपड़ा मकान ये कार्य कहलाता है दार्शनिक उसमें तो ये बिना कर्ता के नहीं बनते हैं इसका कोई ना कोई बनाने वाला होगा इस माला ये माला भी एक कार्य है इसका भी कोई करता है इस मोबाइल का भी कोई करता है अब प्रश्न आया कि भाई आत्मा और परमात्मा का जब आता है तो बोले कारण का कारण नहीं होता यदि आत्मा और परमात्मा कार्य होते तो उसका कोई ना कोई करता होता कार्य किसे कहते हैं जो जितनी भी कार्य वस्तुएं मैंने बताई वो अनेक अवयवों से मिलके बनी होती हैं घटकों से मिलके होती हैं कोई भी कार्य वस्तु घटकों से मिलकर के बनती है आत्मा और परमात्मा में कोई घटक नहीं है वो कभी बने नहीं है वो सदा से है तो जो चीज बनी ही नहीं उसके कर्ता की बात ही नहीं आती है जो बनती है उसका कोई ना कोई कर्ता होता है जो कार्य है उसका कर्ता होता है जो कार्य है ही नहीं तो उसका कर्ता कहां से होगा जो बना ही नहीं है उसका कर्ता कैसे होगा आप अपने बगीचे के में तो कह सकते हो कि पेड़ किसने लगाया भाई उसने लगाया माली ने लगाया उसकी पसंद का है और जंगल में जाके पूछ कोई पूछता है क्या कि ये किसने लगाया किसी मनुष्य ने हाँ, वो प्रकृति से लगता है परमात्मा से लगता है तो जो चीज अपने आप होती है उसका कोई करता नहीं होता है ये तो अपने आप बने हुए थे अपने बने नहीं मतलब पहले से थे ऐसे के ऐसे हैं बने ही नहीं है कार्य है ही नहीं तो उनका करते का प्रश्न ही नहीं होता होता ही नहीं है उसका करता और जो नित्य वस्तु होती है वो वही होती है जिसका कोई बनाने वाला नहीं होता है इसलिए उनका कर्ता कभी नहीं होता है ये विस्तार का विषय है वैसे तो थोड़ा समझ में आएगा पर संक्षेप से मैंने बात रखी आपके साथ बहुत अच्छा प्रश्न था ये धर्मा बेटी का प्रश्न है जरा धर्मा वहां से खड़ी हो जाएगी अच्छा जी ये बेटी बहुत ही चिंतन मनन करने वाली है उम्र में तो बहुत छोटी सी है लेकिन काफी ये वैदिक वेद में रुचि रखती है और इस टाइप के प्रश्नों में काफी रुचि रखती है जी वैसे हमारे यहाँ छोटे और बड़े की परिभाषा क्या है ये भी एक मैनेजमेंट है <laughs> तो ऋषियों ने कहा कह दिया न तेन वृद्धो भवती ये नास्य पलितम शिरा पलित कहते हैं सफेद बाल हो जाते हैं जैसे मेरे हो गए या औरों के हो गए इस बालों के पकने से कोई वृद्ध नहीं कहलाता यो नुचाना सनो महान न तेन वृद्धो भवती ये ना से पलितम शिरा हाँ, मैं भाव बोल रहा हूं कि जो हमारे में विद्वान है यो अनुचान है जो पढ़ा हुआ है समझदार है वो वृद्ध है ये वृद्ध की परिभाषा की एक मैनेजमेंट है हम भारतीय संस्कृति के नाम से ये बहुत कुछ करते हैं कि बड़ों ने जो कह दिया वृद्ध है उसको मानना है दशरथ ने जो कह दिया वो राम को मानना है केकई ने जो कह दिया वो राम को मानना है ये भारतीय संस्कृति नहीं है ध्यान दीजिएगा ये मैनेजमेंट ये गलत ढंग से आरोपित करके और माता पिता का सारा किया हुआ है वो मानना है माता पिता का नहीं मानना ये नहीं कह रहा हूं मैं मेरी बात का गलत अर्थ नहीं लेना लेकिन माता पिता के द्वारा जो ठीक कहा गया वो माना जाना चाहिए और यदि बच्चा ठीक कह रहा है तो माता पिता को मानना चाहिए जो ज्ञानवान समझदार है उसकी बात माननी चाहिए आप में से कोई मूर्ख व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा क्या नहीं कोई चाहेगा क्या ये बड़ी आयु का है और बस में जा रहे हो और बोले बड़ी आयु वाला है इसलिए इसको ड्राइवर पे बैठा दें कोई चाहेगा क्या कभी नहीं चाहेंगे मर जाएंगे और पायलट को ऊपर वाले को युवा हो जो चलाना जानता हो उसी को ही हम सौंपते ये हमारा स्वभाव है और यही धर्म है ऐसा ही घर परिवार में चलना चाहिए और हमारे घर परिवार के झगड़े का कारण ये है कि हम उस मैनेजमेंट को नहीं जानते माता पिता अपने को उसी भूमिका में देखते हैं कि हम बड़े हैं समझदार हैं और बच्चे समझदार हैं वो हमें अभी समझ में नहीं आता है तो वो कोई बच्चे तो ठीक है आपने प्रशंसा में कहा उनकी अवस्था कम है लेकिन जो बुद्धिमान है वो महान है वो वृद्ध है हमारे यहाँ ये मैनेजमेंट है धर्म का जी वैसे प्रश्न तो और बहुत आए हैं लेकिन समय की काफी मर्यादा है इसलिए एक बार फिर सारे विद्वानों का केवल आचार्य जी को हाथ पहना के सभी विद्वानों का बहुमान कर लिया ऐसा हम मान लेंगे तो यहाँ तीन महानुभाव को मैं आचार्य जी दोबारा बुलाता हूँ और आपका सम्मान करेंगे हम सब जोरदार तालियों से